होने वाली बहू इस वक्त विक्रांत सिर्फ और सिर्फ जिम के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था उसने इस धंधे को बहुत सोच समझ कर चुना था इसके पीछे भी कई कारण थे सबसे पहली बात तो जिम के बिजनेस में उसे तुरंत कमाई मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग वाला जिम ऑलरेडी बहुत फेमस है उसमें काफी सारे लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उस जिम को लेने पर विक्रांत को तुरंत ही कमाई मिलनी शुरू हो जाएगी जिम का बिजनेस शुरू करने का दूसरा कारण ये भी था उसके बेरोजगार ब्लाइंड दोस्तों को भी कुछ काम धंधा मिल जाएगा वरना वो भी दिन भर इधर उधर की चोरी चकारी के चक्कर में घूमते रहते हैं जिम का बिजनेस शुरू करने का तीसरा कारण ये था कि विक्रांत खुद को भी फिट रखना चाहता था वो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहता था ताकि वो और फुर्ती से मुजरिमों को पकड़ सके जिम का बिजनेस शुरू करने का चौथा रीजन भी था दरअसल विक्रांत जिम के साथ ही वहाँ पर बॉक्सिंग और ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता था ताइक्वांडो विक्रांत खुद भी सीखना चाहता था ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था वो था खुद को नैना के काबिल बनाना ताइक्वांडो सीखकर बॉक्सिंग सीखकर विक्रांत सिर्फ और सिर्फ नैना को इम्प्रेस करना चाहता था जिम का बिजनेस शुरू करने के बहुत फायदे थे पहले तो दोस्तों को रोजगार मिल जाएगा विक्रांत के भी इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा नैना को भी इम्प्रेस करने में उसे मदद मिलेगी ऐसे में उसके लिए जिम से बेहतर बिजनेस कोई और नहीं था इसीलिए विक्रांत ने इस धंधे में उतरने का मन बना लिया था विक्रांत ये बात जानता था कि वो सरकारी एम्प्लॉ है ऐसे में वो अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं शुरू कर सकता इसीलिए उसने सरताज के नाम पर जिम खरीदने का प्लान बनाया था लीगली जिम का मालिक सरताज को बनाकर पीछे से पूरा बिजनेस वो खुद ऑपरेट करने वाला था इसीलिए उसने मिस्टर मलिक की मदद ली थी विक्रांत को पता था कि मिस्टर मलिक बड़े बिजनेसमैन है ऐसे में वो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे विक्रांत चराग भी बहुत था आज सुबह ही उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में चंद्रमा और आग मिला हुआ था आग का मतलब दोस्ती से था और उसने मिस्टर मलिक से मिलकर अपने इस कोडवर्ड को सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी मिस्टर मलिक ने भी विक्रांत को पूरी मदद करने का आश्वासन दे दिया था वो पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक को अच्छे से जानते थे तो पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द विक्रांत जिम का मालिक बन जाएगा खैर किसी भी बिजनेस को शुरू करना जितना आसान लगता है वास्तव में उतना होता नहीं विक्रांत मिस्टर मलिक से मिलकर वापस अपने ऑफिस आ गया था ऑफिस आने के दो घंटे बाद ही मिस्टर मलिक ने उसके पास फोन करके बताया कि उन्होंने पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक से बात कर ली है और उन्होंने बताया कि वहाँ जो जिम है उसे अभी लीगली किसी के नाम भी नहीं किया जा सकता है दरअसल जब से उस बिल्डिंग में पुलिस का छापा पड़ा था और वहाँ से चोरी का सामान बरामद होने के साथ ही ब्लैक मार्केट के सरगना सोनू दीदी को अरेस्ट किया गया है तब से उस जिम का कोई भी मालिक रह नहीं गया था वैसे वो जिम सोनू के नाम पर ही है लेकिन इस वक्त सोनू जेल में है और वो अपनी किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकती है सोनू के जेल में जाने के बाद जिम कुछ दिन तक बंद रहा लेकिन पैसिफिक बिल्डिंग वालों को अपनी रेपुटेशन बचानी थी जिम में सैकड़ों मेंबर थे तो पैसिफिक कमर्शियल ने खुद ही इस जिम को ऑपरेट करना शुरू कर दिया लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि वो खुद भी इस जिम को किसी और को हैंडओवर करना चाहते हैं लेकिन कानूनी रूप से वो ऐसा नहीं कर सकते मजबूरन जब तक जिम के मालिक सोनू जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं वो इसे बेचने के लिए राजी नहीं होती तब तक कोई उसे नहीं खरीद सकता है पैसिफिक बिल्डिंग वाले भी लीगली इस जिम को बेच नहीं सकते मिस्टर मलिक की बात सुनने के बाद विक्रांत ने कहा ठीक है मालिक साहब थैंक यू मैं देखता हूँ अपनी तरफ से विक्रांत दोपहर से लेकर शाम तक यही सोचता रहा कि आखिर कैसे वो इस जिम को खरीद सकता है विक्रांत को ये अच्छे से बात पता थी कि इस देश में लीगली कुछ भी संभव नहीं है लेकिन इलीगल तरीके से सब कुछ संभव है अब उसे इस जिम को हत्याने के लिए कुछ इलीगल तरीका भी आजमाना पड़ेगा रात को फिर से विक्रांत की किस्मत अच्छी रही उसका आज का सक्सेस रेट तिरासी परसेंट रहा था और उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक इनविजुअल कैमरा दिया गया था इस कैमरे की मदद से वो किसी पर भी अपनी नजर रख सकता था पिछली बार की तरह इस बार भी ये कैमरा स्टार्ट होने पर अगले 24 घंटे तक अपना असर दिखा सकता था इनविजिबल कैमरा मिलते ही विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना मैं उसकी मदद लू वो मेरी मदद जरूर कर सकता है उस रात विक्रांत को कोडवर्ड के रूप में हवा और पानी शब्द मिला हुआ था हवा का अर्थ पारिवारिक रिश्तों से था जबकि पानी का मतलब लड़की से था ऐसा लग रहा था कि अब विक्रांत थोड़ा फ्री है तो अदृश्य शक्ति भी उसके लिए जश्न का इंतजाम कर रही है आज फिर उसकी मुलाकात किसी लड़की से होने वाली है विक्रांत ने अपने कोडवर्ड की परवाह किए बिना ही अगले दिन सुबह वो खालिद सिद्दीकी से मिलने के लिए उसके ठिकाने की ओर निकल पड़ा ये वही खालिद सिद्दीकी था जिसके विक्रांत ने साजिद खान को अरेस्ट करने के चक्कर में पीटा था खालिद ज्यादातर अपने चाय की शॉप पर रहता था विक्रांत को उसका ठिकाना अच्छे से मालूम था सो तो वो सीधे ही उसके अड्डे पर पहुंच गया विक्रांत जब वहां पहुंचा तो वहां पर बैठा चाय पी रहा था तो तुम तुम यहाँ इस वक्त विक्रांत को देखते खालिद के मुंह से निकल पड़ा इसके साथ ही उसके हाथ से चाय का प्याला छूट कर जमीन पर गिर पड़ा खालिद के चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने पैर में लगे प्लास्टर को निकलवाया था और अब फिर से विक्रांत यहाँ पहुंच गया अरे अरे तुम तुम तो डर गए चिंता मत करो विक्रांत जाकर खालिद के ठीक बगल में बैठ गया और फिर उसने जमीन पर गिरे कप को उठाकर दोबारा से टेबल पर रख दिया और क्या हाल है डरो मत आज मैं पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं हूँ कुछ नहीं करूंगा एक्चुअली मुझे कुछ काम था तुमसे इसलिए आया था काम कौन सा काम खालिद ने हड़बड़ाते हुए कहा विक्रांत को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था वो टेंशन में आ गया था कहीं फिर से ये आदमी किसी मुसीबत में ना डाल दे विक्रांत ने भी उसके सामने ज्यादा देर तक सस्पेंस नहीं बनाए रखा बल्कि तुरंत ही जिम वाली बात बता डाली उसने खालिद को साफ साफ बता दिया कि मुझे पैसिफिक बिल्डिंग वाली जिम खरीदनी है और कैसे भी करके तुम मेरी इसमें मदद करो हालांकि विक्रांत ने उसे ये बताया था कि वो ये जिम खुद के लिए नहीं बल्कि एक अपने दोस्त के लिए लेना चाहता है विक्रांत को अच्छे से पता था कि खालिद काफी अवैध काम धंधे करता है वो जमीन जायदाद पर इलीगल तरीके से कब्जे आदि का भी काम करता है ऐसे में इस समय उसे जिम पर कब्जा दिलाने के लिए खालिद से बेहतर कोई और आदमी नहीं देखा